दरअसल विक्रांत ने कभी सनग्रोव से फाइट करने के लिए सीरियसली कोई तैयारी भी नहीं की थी भले ही विक्रांत के फाइट करने का तरीका बिल्कुल अलग था उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं था और उस तरीके से वो छोटे मोटे फाइटर को मात भी दे सकता था लेकिन यहां पर उसका सामना सनग्रोव से था सनग्रोव कोई मामूली फाइटर नहीं था वो यूएफसी का वर्ल्ड चैंपियन था उसके सामने विक्रांत एक मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता था ये बात विक्रांत अच्छे से जानता था जिस तरह से थोड़ी देर पहले सनग्रोव ने अपनी फाइटिंग स्किल दिखाई थी उसे देखकर ही विक्रांत को यकीन हो गया था कि वो सनग्रोव के सामने एक मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता है सच्चाई तो यह है कि विक्रांत सनग्रोव को ट्रेनिंग करवाने के लायक भी नहीं था ऐसे में जब नैना के डैड ने विक्रांत को सनग्रोव से लड़ाने का प्लान बनाया तो फिर विक्रांत भी अपना दिमाग चलाते हुए इस आपदा से बाहर निकलने का प्लान बनाने लग गया पहले तो विक्रांत ने सोचा कि वो अदृश्य शक्ति के दिए हुए टूल्स का इस्तेमाल करके किसी तरह से सन ग्रोह का सामना कर लेगा लेकिन फिर जब विक्रांत ने अपने टूल बार में नजर डाला तो उसे समझ में आया कि उसके पास यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए कोई खास टूल ही नहीं है उसके टूल बार में अदृश्य एयरक्राफ्ट स्प्रिंग लॉन्चर बॉम्ब जादुई कोट जादुई चाबी जैसे टूल्स ही थे अब अगर वो इन टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पर करता है तो फिर सबको उसके ऊपर शक हो जाएगा जो कि विक्रांत किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता था उसके टूल बार में अभी एक अदृश्य पावर जैमर भी था लेकिन अभी थोड़ी देर पहले विक्रांत ने उस टूल का भी इस्तेमाल किया था ऐसे में अब वो उसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता था काफी देर तक सोच विचार करने के बाद विक्रांत को इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही टूल का इस्तेमाल करने का विचार आया वो टूल था एनर्जी बूस्टर एनर्जी बूस्टर ही इस वक्त ऐसा टूल था जिसका इस्तेमाल विक्रांत आसानी से कर सकता था हालांकि ये यूएफसी की फाइट थी और सनग्रो इस फाइट का चैंपियन था ऐसे में विक्रांत इस बात को लेकर श्योर भी नहीं था कि अगर उसने एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल कर भी लिया तो वो सनग्रोव को हरा पाएगा क्योंकि ये गेम स्ट्रेंथ से ज्यादा टेक्निक और प्रैक्टिस का था जो कि जाहिर तौर पर सनग्रोव ने विक्रांत से काफी ज्यादा की हुई थी खैर विक्रांत की ये सनग्रोव के फाइट करने के तरीके को थोड़ा बहुत नोटिस किया हुआ था ऐसे में उससे भिड़ने के लिए विक्रांत ने अपनी एक खास स्ट्रेटजी बनाई विक्रांत को पता था कि सनग्रोव जब किसी के साथ फाइट शुरू करता है तो वो पहले उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो जाता है और फिर जैसे ही फाइट शुरू होती है वो पीछे मुड़कर अपने दुश्मन को उठाकर ऐसा पटकता है कि उसके अंदर आगे लड़ने की हिम्मत ही नहीं रहती है विक्रांत ये बात अच्छे से समझ रहा था कि अगर सनग्रोव ने उसे एक बार भी हवा में उठाकर जमीन पर पटका तो फिर उसके अंदर दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं रहेगी ऐसे में जब सनग्रोव उसके सामने पीछे मुंह करके खड़ा हुआ था तभी विक्रांत ने एनर्जी बूस्टर टूल को एक्टिवेट कर दिया और फिर अपने बाजुओं का पूरा जोर लगाते हुए उसने सनग्रोव की पीठ पर जोरदार प्रहार कर डाला एनर्जी बूस्टर की वजह से विक्रांत का प्रहार इतना जोरदार था कि सनग्रोव मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा अरे अरे ये क्या हुआ अभी गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ है रेफरी ने विक्रांत के ऊपर चिल्लाते हुए कहा लेकिन हिम विक्रांत उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ सनग्रोह के शरीर पर एक के बाद एक करके लगातार घूसे बरसाए जा रहा था फिर जब मैच रेफरी ने आगे बढ़कर विक्रांत को खींचते हुए सनग्रोह से अलग करना शुरू किया तब जाकर विक्रांत पीछे हटा दिमाग खराब है तुम्हारा मैच शुरू भी नहीं हुआ और तुम टूट पड़े रेफरी ने विक्रांत को डांटते हुए कहा मैच अभी शुरू नहीं हुआ क्या बात कर रहे हो अरे मुझे तो लगा कि मैच शुरू हो गया है विक्रांत ने अपनी भुआएं टेढ़ी करते हुए कहा फिर उसने तुरंत ही अपनी खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए सनग्रोव की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा sorry sorry sorry brother sorry मुझे पता नहीं था लेकिन सनग्रोव चित होकर जमीन पर पड़ा रहा रेफरी भी उसे उठाने की लगातार कोशिश कर रहा था लेकिन सनग्रोव टस से मस नहीं हो रहा था पूरे हॉल में सन्नाटा छा चुका था सबकी सांसें अटकी हुई थी और आंख फटी की फटी रह गई किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रांत ने सनग्रोह को घायल कर दिया है रेफरी के बार बार उठाने के बाद भी सनग्रोह के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी उसके स्टाफ के लोग भी उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सनग्रोह बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था विक्रांत ने अभी भी अपनी एक्टिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी थी वो बार बार सनग्रोव के पास जाकर उसे सॉरी बोलते हुए उठाने की कोशिश कर रहा था सनग्रोव के स्टाफ मेंबर तो विक्रांत से काफी नाराज नजर आ रहे थे वो विक्रांत को उसके पास भी नहीं पटकने दे रहे थे रेफरी ने सनग्रोव की हालत देखते हुए ये डिक्लेयर कर दिया कि अब सनग्रोव फाइट नहीं करेगा उधर हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था सब चकित होकर फाइटिंग रिंग की तरफ ही देख रहे थे इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान हैरान तो नैना के डैड मिस्टर गिरेवाल साहब नजर आ रहे थे उनकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी गुस्से में आकर उन्होंने एक के बाद एक करके तीन चार वाइन के ग्लास खाली कर दिए थे ये, ये कैसे हो सकता है ग्रेवाल साहब को तो मानो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था ये साला विक्रांत इस सनग्रोह पे पैसे लगाना बेकार है किसी काम का नहीं है ये फालतू में वर्ल्ड चैंपियन बना फिरता है भला कोई वर्ल्ड चैंपियन ऐसे इतनी आसानी से बेहोश हो जाता है क्या कीपर ने उसकी तरफ डरी हुई नजरों से देखते हुए सवाल किया सर सर अब हम क्या करें ग्रेवाल साहब ने फिर अपना दांत पीसते हुए कहा जाओ उस इसराइल वाले को बुला कर ले आओ और होस्ट को बोलो कि वो एशियन के ठीक होने का अनाउंसमेंट कर दे एशियन के रेडी करके रिंग में ले आओ वो लड़ेगा विक्रांत से फिर जैसे हाउसकीपर वहां से जाने लगा तब ग्रेवाल साहब ने उसके कान में बड़बड़ाते हुए कहा ईशन को बोलना कि स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान दे ये सारा फाइट शुरू होने के पहले ही अटैक कर देता है इस वक्त पूरे हॉल में एक अलग ही तरह का सन्नाटा छाया हुआ था किसी को भी अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी सबसे ज्यादा परेशान तो वो लोग नजर आ रहे थे जिन्होंने इस फाइट से पहले शर्त लगाई थी अब चूंकि फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी ऐसे में इस फाइट पर जितना बेट लगा था उसे भी कैंसिल कर दिया गया उधर अभी तक विक्रांत अपनी एक्टिंग स्किल दिखाने में जुटा हुआ था वो बार बार सनग्रोव के पास जाकर उसका हाल जानने की कोशिश कर रहा था यहाँ तक कि वो कई बार सनग्रोव को सीपीआर देने की भी कोशिश कर चुका था रिंग के ठीक बाहर नैना हर्ष और हर्षित खड़े होकर विक्रांत की तरफ ध्यान से देख रहे थे वो लोग भी बिल्कुल सन्न रह गए थे सबसे ज्यादा हैरत तो हर्ष को हो रही थी थोड़ी देर के बाद नैना ने अपने माथे पर आ रहे पसीने को अपने हाथ में लिए हुए उसी सफेद तौलिए से पहुंचना शुरू कर दिया जिसे उसने विक्रांत के लिए रखा हुआ था उस दौरान वो मन ही मन सोच रही थी कि वाकई में विक्रांत कितना चालाक है हे भगवान इस इंसान को क्या कहें लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग एक बार फिर से अपने बैट के पैसे को वापस लेने का कष्ट करें होस्ट ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा हमें अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ईशियन इस फाइट में दोबारा से वापस आ चुका है उसका चोट ठीक हो गया है अब सनग्रोव की जगह पर ईशियन विक्रांत से फाइट करेगा बहुत ही जल्द आपके सामने रिंग में ये दोनों अपना जौहर दिखाते नजर आने वाले हैं तो दिल को थाम कर बैठिए और पैसे को हाथ में लेकर एक बार फिर से आप लोगों को दाव खेलने का मौका दिया जा रहा है ये सुनकर ऑडियंस में फिर से एक्साइटमेंट देखी जा सकती थी आज की शाम सबको एक रोमांचक मुकाबले का इंतजार था वही ये अनाउंसमेंट सुनते ही हर्ष की नजरें रिंग में खड़े विक्रांत से टकरा उठी विक्रांत ने तो उससे पहले ही कहा था कि सनग्रोव के बाद ये लोग किसी और को भी लड़ने के लिए भेज सकते हैं इस अनाउंसमेंट ने नैना का भी पारा चढ़ा दिया था वो चिल्ला उठी अब बहुत हो गया